ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है शॉर्टवेव 25 मीटर बैंड में ग्यारह हजार नौ सौ पांच किलोहर्ज और श्रीलंका में एक सौ सात दशमलव तीन एफएम पर बहनों और भाइयों आइए फिर एक बार गीत बाना की छाव में आज शुरू होने वाला है आपके प्यारे रेडियो प्रोग्राम गीतमाला का साल 1959 यानी उन्नीस मगर अब मैं कुछ और कहूं इससे पहले आप जरा इस हसीना से मिलिए जो आज सुना है मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहती है हाँ हाँ तो मैं डेयर पहले तुम ये तो बताओ कि तुम कौन हो मैं वो सजीली मतवाली नार हूँ जिसके श्रृंगार में शामिल हैं फिल्म संगीत के सुनहरे दौर के सुर गहने दिल को छूने वाले शब्दों का सुरमा और उमंगों को झुमा देने वाली आवाजों की खुशबू मैं हूँ आपकी अपनी गीत माला अमीन अंकल ओए ओए ओए क्या मतलब यानी मेरी गीत माला हो और मुझे अंकल बोल रही हो वो इसलिए कि मैं तो 1952 में जन्मी थी तो आप तो मुझसे बीस साल बड़े हैं ना अमीन अंकल अच्छा ठीक है ठीक है चलो सवाल पूछो अपने फटाफट अमीन अंकल पहला सवाल आपके लिए ये है कि आप इतना ज्यादा क्यों बोलते हैं है? बोलना कम करके गाने ज्यादा क्यों नहीं बजाते ओहो भाई तुम मेरी गीत माला हो या मेरी मास्टर ने यानी आते ही मुझ पर हमला नहीं नहीं नहीं ये सवाल मैंने नहीं किया है तो किसने किया भाई गीतमाला से में का मजा लेने वाले आठ दस लोगों ने किया है जिनमें दो खास बड़े डेडिकेटेड लिसनर्स हैं दिल्ली के डॉक्टर ए के शर्मा और राजा ने कहा ऐसी ईमेल भेजने वाले रवि महादेवन अच्छा तो भाई चलो इन्होंने पूछ ही दिया है तो सुनो प्यारे दोस्तों गीतमाला में तो 45 साल तक आपसे बातें करने का मौका मिलता रहा हर हफ्ते और फिर कई साल तक काफी खामोशी छा गई अब अगर मैं अपने जीवन की सुरीली शामों में गीतमाला की छाव में बैठकर अपने प्यारे सुनने वालों से अपने मन में दबी हुई बातें नहीं बोलूंगा तो बताइए फिर कब मौका मिलेगा मुझे बोलने का अच्छा अच्छा अच्छा आप दुखी मत होइए अमीन अंकल बोलिए बोलिए नहीं नहीं भाई अब तो बोलने से ज्यादा सुनना है क्योंकि ये देखो अब उन्नीस के वार्षिक प्रोग्राम की सबसे नीचे वाली आठ पायदानों की झलकें होती हैं शुरू उस साल गीत नंबर बत्तीस था फिल्म उजाला था पायदान नंबर इकतीस पर था हमें अपना बचपन याद दिलाने वाला फिल्म सुजाता का गीत बचपन के दिन भी क्या दिन भी उड़ते फिरते कितने And number 30 पर थे मिस्टर कार्टून एम ए मैं मैं मैं मैं कार्टून बज रहा है बार बार दिल का टेलीफोन मैं मैं मैं मैं कार्टून और अरे बाप रे उस साल एनुअल पायदा नंबर उनतीस पर आप जानते हैं क्या हुआ मधुमति मधुमती को तो भाई बिच्छू मिला मगर बहनों भाइयों आप नंबर 28 पर किसी इंसान को दिल तक देखो दिल तक देखो दिल तक देखो जी दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी दिल तक देखो दिल तक देखो दिल तक देखो जी दोस्तों फिल्म दिल दे के देखो बनी थी मशहूर प्रोड्यूसर एस मुखर्जी की नई कंपनी फिल्मालय में जिसमें फिल्म कला का एक स्कूल भी हुआ करता था जी हाँ। और उस स्कूल ने एक के बाद एक कई लाजवाब नए सितारे फिल्म इंडस्ट्री को दिए जिनमें से एक थी ब्यूटीफुल आशा पारेख जो नृत्य भी बहुत अच्छा करती थी ट्रेन डांसर थी नृत्य और अभिनय का बहुत गहरा संबंध है नृत्य में अभिनय है और अभिनय में नृत्य जब हम नृत्य करते हैं तो उसमें अभिनय होना बहुत जरूरी होता है और जब हम अभिनय करते हैं तब हमारी आंखें नाचती हैं हमारे होठ हिलते हैं हमारा बदन झूमता है जिसे कहते हैं टाइमिंग टाइमिंग में नृत्य होता है अगर टाइमिंग में नृत्य न हो तो हम सही जगह पर नहीं पहुंचेंगे सही जगह पर हम अपने डायलॉग्स डिलीवर नहीं कर सकेंगे अच्छा इत्तेफाक से फिल्म दिल दे के देखो कि म्यूजिक डायरेक्ट्रेस भी नहीं थी बिल्कुल ए, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और चुलबुली लड़की मगर चूंकि दिल दे के देखो के गीत उस साल नहीं अगले साल ज्यादा चले थे इसलिए उसका जिक्र मैं आज नहीं करूंगा शुक्र है चलिए चलिए आगे बढ़िए चलो बढ़ता हूँ भाई आगे है झलक उन्नीस के गीत नंबर 27 की फिल्म थी चिराग कहाँ रोशनी कहाँ अजब है मालिक तेरा जहाँ चिराग कहाँ रोशनी कहाँ आग लगे नहीं उठे धुआं चिराग कहाँ रोशनी कहाँ और शायद नंबर 26 पर थी चलती का नाम गाड़ी वही बहुत पुराने जमाने की गाड़ी जिसमें एक बार किशोर कुमार मुझे भी बिठाकर सैर कराने ले गए थे यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम बाबू समझो इशारे और पुकारे पम पम पम हर होन बजा और पायदान नंबर 25 पर गूंज उठी शहनाई का ये गीत कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार इसमें खुशियाँ है कम बेशुमार है गम एक हंसी और आंसू हजार कह दो कोई ना करे नहीं बहनों भाइयों आप जरूर कीजिए प्यार और साथ ही एक मजेदार बात भी अब सुनिए कौन सी बात उन्नीस के गीत वाला एनुअल प्रोग्राम में तो यही सब गीत इसी क्रम में बजे थे मगर उसके करीब तीस साल बाद जब मैंने H M V Geetmala hit parade के नाम से गीतमाला के सालाना प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू किया था तो कुछ गीतों का क्रम उलट पुलट हो गया था क्योंकि प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से पहले मेरी टाइपिस्ट ने वो लिस्ट टाइप करते हुए कुछ गड़बड़ कर दी थी ये गलती बहनों और भाइयों गीत माला के वही मशहूर बहुत पक्के दोस्त जयपुर के प्रोफेसर अनिल भार्गव ने आकर अपनी किताब गीत माला के सुरीला सफर में सुधारी थैंक यू अनिल भार्गव साहब अब आप अपनी किताब के बारे में मेरी वेबसाइट पर जरूर देखिएगा अरे वेबसाइट बाद में देखेंगे अमीन अंकल पहले 1959 की छाव में तो कदम रखिए हाँ हाँ, हाँ हाँ भाई चलो चलो उस साल की छाव के तो बड़े प्यारे बड़े गजब के मगर कुछ भूले हुए गीत बहुत अरसे से हमारे इंतजार में हैं। सुहाना संगम था 1959 में देखिए C Ramchandra Anil Biswas Naushad S T Burman Sajjad Hussain Hansraj Behl Vasant Desai S N Tripathi वगैरह वगैरह इन सब का भी राज था और मदन मोहन रोशन शंकर जयकिशन सलील चौधरी सरदार मलिक ओपी नैयर एन दत्ता चित्रगुप्त कल्याण जी दत्ताराम रवि वगैरह ने भी जोरों में अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया था हाँ और कहीं कहीं कोनों कोनों में नए लोग भी सर उठाने लग गए थे से आने लगे उन्नीस में एक नया नाम प्लेबैक सिंगरों में भी उभरने लगा था महेंद्र कपूर जो एक म्यूजिक कंपटीशन में ऐसे चमके साहब के पांच सीनियर संगीतकारों ने महेंद्र से एक एक गीत गवाया उन संगीत सम्राटों में से एक थे नौशाद नौशाद साहब के बारे में क्या कहूँ मैं अमीन भाई एक अजीब फरिश्ता है हम्म। हमारी इंडस्ट्री के अच्छा अंदर की बात बताऊँ आपको हम्म। कि मैं रिहर्सल्स करता था इस गाने की और ये गाना बहुत ऊंचा था हाँ। बहुत ऊंची स्केल का था बिल्कुल, बिल्कुल। जी हम्म। क्योंकि नौशाद साहब ने मुझे कहा था कि बेटा ऐसा है कि मैं बैकग्राउंड म्यूजिक कर चुका हूँ हाँ। तो ये उसी स्केल से गाना पड़ेगा छह अंतरे थे इस गाने के एंड में जाके क्लाइमेक्स होता था हाँ, इश्क में जान गवाई तो मुझे अब तक याद है कि लास्ट रिहर्सल पे मैं बैठा हुआ था शाम का वक्त था अगले दिन रिकॉर्डिंग थी उस स्टूडियोज में तो मुझे कहने लगे देखो महिंदर एक मैं अर्ज करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि मेरी इज्जत रखना कल अरे, हाँ, हाँ, हाँ। और मैं तो जमीन निकल गई अच्छा कभी किसी डायरेक्टर ने ऐसी बात नहीं की कभी हम्म। कि मेरी इज्जत रखना चांद छुपा और तारे डूबे रात गजब की आई हुस्न चला है इश्क से मिलने जुल्म की बदली बहनों और भाइयों मैं गीतमाला की छाओं में इसी गीत का इंतजार कर रहा था ये बताने के लिए कि मेरे कॉलेज के प्यारे दोस्त और जोरदार गायक महेंद्र कपूर का देहांत उस गीत के करीब 50 साल बाद यानी सन 2008 में हो गया बड़े अच्छे स्वभाव के बड़ी सुलझी हुई तबीयत के इंसान थे महेंद्र कपूर अच्छा अमीन अंकल अब मैं अपना सवाल नंबर दो पूछू हाँ हाँ पूछो आपने वॉल्यूम नंबर 10 में बताया था ना क्या वॉल्यूम नंबर 11 से कुछ नई बातें शुरू करने वाले हैं भाई एक नई बात तो शुरू हो ही गई यानी पहले आठ झलके टॉप सॉन्ग्स की बीच में नॉन स्टॉप गीत छाव वाले और आखिर में आठ और गीतमाला सालाना प्रोग्रामों की पादानों वाले गीतों की झलके और दूसरी नई बात भाई बात यूं हुई कि गीतमाला की छाव में के तो कुछ खास सुनने वालों ने जैसे मस्कत ओमान के ज्ञानेन्द्र सिंह और फिलाडेल्फिया यूएसए के प्रोफेसर प्रबोध गुप्ता न जाने किस शहर के कमल हंस और शारजा के मशहूर एडवर्टाइजिंग पायनियर और मेरे दोस्त तनवीर कांजी ऐसे कई लोगों ने लिखकर कहा है कि गीतवाला की छाओ में के पहले दस वॉल्यूम्स बिल्कुल पुरानी गीतवाला के किसी शानदार रेडियो प्रोग्राम की तरह लगे बस शुरू करो और घंटे भर तक नॉन स्टॉप मजा लेते रहो मगर अमीन भाई आप इसके सीडीज में अगर ट्रैकिंग का इंतजाम भी कर दें तो हम अगर कोई खास हिस्सा या गीत दोबारा से या अलग से सुनना चाहें तो वो भी हो सके तो दोस्तों ट्रैक्स का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और ट्रैक्स के निशान सीडीज के इनले कार्ड्स पर भी मौजूद हैं वेरी गुड अमीन अंकल आप कभी कभी अक्लमंदी की बात भी कर जाते हैं अच्छा कभी कभी नहीं नहीं चलिए छोड़िए छाव में से चुनकर कोई एक अच्छा सा रोमांटिक गीत बजा दीजिए जल्दी से ओके मगर इसे जल्दी से नहीं आराम से सुनो दिल की गहराइयों में उतर कर बार से मन में वो आके तन में आग लगाए ये है गीतमाला कि जिस तरह डेमोक्रेसी के इलेक्शंस में उम्मीदवारों के जीतने या न जीतने में कई चीजों का हाथ होता है उसी तरह गीतमाला के गीतों के हिट होने में भी कई आधार हुआ करते थे जैसे फिल्म का चलना गीतों का वक्त पर मार्केट में आना गीत को अदा करने वाले एक्टर या एक्ट्रेस की पॉपुलैरिटी वगैरह वगैरह हम्म, चलिए कोई बात नहीं जो गीत मुझ में नहीं उभरे वो मेरी छाव में तो गूंज सकते हैं ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल और अब गीतमाला की छाओ में गूंजेगा एक ऐसा बेहद खूबसूरत गीत जो मेरी ये प्यारी मास्टरनी गीतमाला साहबा मेरे लिए तो कभी नहीं गाएगी अरे वाह वो कौन सा गीत है अमीन अंकल अच्छा दिन में हरी चलो लो मैं तो कभी किसी से नहीं हारी आपसे क्यों हारू हाँ, इसी को तो कहते हैं नक्चढ़ापन हम्म, क्या मीन अंकल जो किसरो अच्छा जी मैं हारी चलो जाओ ना देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना अच्छा जी मैं हारी चलो जाओ ना देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना थे मेरी क्या खता छोटे पे हुजूर पे ऐसे वो खता तुझे तो हुजूर थे मेरी क्या खता देखो दिल न तोड़ो छोड़ो हाथ छोड़ो देखो दिल न तोड़ो और छोड़ो हाथ छोड़ो छोड़ दिया तो हाथ मिला समझे अज समझे अच्छा जी मैं हरे चलूँ देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना अच्छा जी मैं हरे चलूँ देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना ये जिंदगी ठोकर खाते हम जीवन के ये रास्ते लंबे हैं काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खाते हम साथ ले अच्छे हम अकेले साथ ले ले अच्छे हम अकेले क्या पतंग भी चल न सकोगे समझे हाँ समझे अच्छा जी मैं हाँ भी देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ लूटना जीने के मजे क्या करना है जीते हो रहना किसी के क्या करना है जीते अरे हो रहना किसी के रहे तो याद करोगे समझे समझे अच्छा जी मैं हरी जाऊना देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाना अच्छा जी मैं देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना भाइयों अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक बड़ी अनोखी गोरी चिट्टी सुंदर गायिका से जिससे मेरी मुलाकात तब हुई थी जब रेडियो सिलोन पर नए सिंगर्स का कार्यक्रम फुलवारी चला करता था और उसमें ये प्यारी लड़की भी आया करती थी गाने के लिए मैंने जब पहली बार उसे देखा ना और सुना तो मैं <laughs> उसका फैन बन गया हाँ हाँ मुझे खूब पता है अमीन अंकल कि आपकी इस खूबसूरत लड़कियों का फैन बन जाने की आदत से कितनी नाराज रहा करती थी हमारी रमा आंटी ओहो भाई क्यों बदनाम कर रही हो मुझ जैसे सूफी साधु को भाई <laughs> सूफी साधु अच्छा खैर लड़की का नाम बताइए <laughs> क्यों ना पहले मैं उसका एक बड़ा खूबसूरत गीत सुनवा दूं जिसकी धुन भी उसी लड़की ने खुद बनाई थी अच्छा तो सुनवाइए सुनवाइए मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको मेरी बात और है मैंने तुम तो मोहब्बत की है तो मुझे जाओ तो ये हक है तुमको मेरे दिल की मेरे जज्बात कीमत क्या है प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी है तुम अगर आंख चुराओ तो ये हक है तुम तो मैंने तुमसे ही नहीं सबसे से मौत की है तुम अगर आंख चुराओ तो ये हक है तुमको मेरी किस्मत ना सही और भी दिल को जलाओ तो ये हक है तुम सुधा की ही थी हाँ, हाँ और ये कैसे हुआ ये सुधा ने खुद मुझे बताया था सुनो एक्चुअली संगीत इसका एन दत्ता साहब का था इस पिक्चर में हम्म। लेकिन जब ये गाना रिकॉर्ड होने वाला था मतलब इसकी सिचुएशन जब आई हम्म। तब उस टाइम दत्ता साहब को कुछ प्रॉब्लम आ गया हार्ट का या कुछ था अच्छा। और he was not able to compose a song तो उस टाइम में साहिर साहब ने मेरे से पूछा कि ये गाना है और हमें चाहिए ये सिचुएशन डिमांड करती है अभी रिकॉर्डिंग इसकी पिक्चराइजेशन करनी है तो आप इसको बना सकती हैं म्यूजिक मैंने कहा मैंने तो कभी ट्यून नहीं करा गाना ऐसे गुनगुनाने के लिए कर लिया होगा लेकिन ऐसे पिक्चर के लिए कभी नहीं किया तो you won't believe I mean इन्होंने मुझे गाना एक दिन पहले दिया हम्म। अगले दिन सुबह मैंने इसको कंपोज किया हम्म। और मुकेश जी को सुनाया क्योंकि उसके साथ मेरा डुएट साथ में था and the third day we recorded the song and it became a hit song तो दोस्तों देखा आपने ऐसा भी होता है कभी कभी इतनी अच्छी धुन बनाने के बाद भी सुधा ने फिर किसी भी फिल्म में म्यूजिक डायरेक्शन नहीं की मगर हाँ अच्छे अच्छे गीत जरूर गाती रही जरूर गाती रही अच्छा बहनों भाइयों फिल्म संगीत के सुनहरे युग को अपने दिल में बसाए रखने के लिए हमने तो गीत माला की छाव में का ये सिलसिला शुरू किया है मगर ये काम सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं हर शहर हर गांव में आज भी कई संगीत प्रेमी हर महीने दो महीने में मिलकर वो मीठे मधुर सुहाने गीत या तो खुद गाते हैं या प्रोफेशनल्स को महफिलों में बुलाकर उनसे गवाते हैं या सीडीज या कैसेट सुनते हैं या उस गजब के दौर के गीत बजाने वाले रेडियो स्टेशनों को सुनते हैं ऐसा ही एक ग्रुप है बड़ोडा का या यूं कहिए कि वडोदरा का फिल्म क्रिटिक्स क्लब जिसके प्रेसिडेंट अनंत शाह गीतमाला की छाव में के वॉल्यूम सुनकर इतने खुश हो गए कि उन्होंने रेडियो प्रोग्राम गीतमाला से जुड़ी हुई अपनी कई वर्षों की सारी यादें हमें लिख भेजी हैं अच्छा यानी मेरी यादें हाँ भाई गीतमाला जी संगीत प्रेमियों के दिलों में तुम्हारी शोहरत तुम्हारा प्यार भी तो किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है और ये प्यार हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा लागे झूठे ना अब तो सनम लागे झूठे ना अब तो सनम क्या है जाए जिया तेरी कसम लाजी छूटे ना अब तो सनम के दीवाना न मन रे जिया तुझको पुकारे बन के दीवाना न मन रे जिया